उस कार्य को वो कर सकता है शक्ति है उसके पास में पर वो ये मान लेता मैं कर नहीं सकता इसकी भूल होती है एक विचारधारा ये रहती है व्यक्ति की वो कर नहीं सकता उस कार्य को और ये मानता मैं कर सकता हूं उदाहरण के रूप में कुछ जन समुदाय ये मानता है कि हम स्वयं ब्रह्म हैं हुए अज्ञानता के कारण उल्टे विचारों के कारण अपने आप को हम भूल गए और यदि हम ये जान लेवे कि हम वास्तव में जीव नहीं है हम ब्रह्म हैं तो वही सृष्टिकर्ता हम बन जाएंगे अच्छे पढ़े लिखे लोग अच्छे प्रवक्ता लेखक देश विदेश में हजारों की बात छोड़ो लाखों में मिलेंगे आप वो ऐसा है नहीं वो ब्रह्म नहीं है ईश्वर नहीं है पर अपने आप को ब्रह्म मानता है वो ऐसे दोषों से भी विचारों में बचना चाहिए विचारों में कर करके विचार उसको छोड़ देना चाहिए कभी कभी ऐसा भी देखता है व्यक्ति वो 20 30 50 वर्ष से प्रयत्न कर रहा और फिर भी मन नहीं रुक रहा है उसके मन में एक बात आई वास्तव में कहा जाता है कि मन को रोका जा सकता है वास्तव में ये मन संभव नहीं है रोकना मन का वश में रख कर लेना संभव नहीं है ऐसा मान लेता है कभी कभी व्यक्ति काम है क्रोध है लोभ है मोह आदि को अपना गुण मान लेता है आप क्या मानते हैं सुनाओ सुमेरे प्रसाद जी बोलेंगे अपना कौन कौन मानते हैं आप इनको अपना स्वाभाविक कोई भी नहीं मानता दिखता तो ऐसा होगा जैसे कि हमारे हों दिखता तो ऐसा होगा या नहीं क्रोध है जैसे वो ऐसा दिखता जैसे हमारा अंग ही अर्थात हमारा ही व्यक्तिगत अपना गुण होगा ये क्रोध जो है ऐसा दिखता है आप दैनिक जीवन से आप इतना परीक्षण नहीं कर पाते होंगे ये क्रोध उठा है ये मेरा गुण नहीं है ऐसा कम ही सोचते होंगे या कैसा सोचते हैं है उस समय प्राय याद नहीं रहता होगा और सावधान रहने वाला व्यक्ति गुरुगुद उठते ही नहीं ये मेरा गुण नहीं है उसमें सावधान रहने वाला व्यक्ति वहीं से पकड़ता है वही पकड़ता है क्रोध ये मेरा गुण नहीं है ये मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये प्रकृति के दोष या गुण है सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है कहां पर लिखा है कौन बताए नहीं पता लिखा है या नहीं ऐसा तो पता होगा हाँ सातवें में हम्म? सातवें में होने की आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन बात ऋषियों के कौन कौन से ग्रंथ में उपनिषद में कहां पर लिखी है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी पहले से तैयार रहना पड़ता एक तो अपने लिए हमको वो ऋषियों के वाक्य जल्द प्रयोग में लाने के लिए उपलब्ध हो जाते अमुक विषय में ऋषि ने ऐसा लिखा हमारे वो मार्गदर्शक होते कभी उल्टे विचार आए तो हम उनको उसी के आधार पर रोक देते ये ऋषि ने ऐसा लिखा जिज्ञासुओं को उत्तर देना हो तो वो ऋषियों की बात उनको बता देते हैं कोई आक्षेप करता है हमारे धर्म पर उसका उत्तर उससे दे देते तो जीवात्मा स्वभावतः पवित्र है शुद्ध है प्रकृति के संपर्क से ये अशुद्ध बनता है अंतर आता है जब हम इन दोषों को प्रकृति के मान लेते हैं तो उनके हटाने में दूर करने में कठिनाई कम होती है अपने मानने में तो ये होगा कि स्वाभाविक जो गुण होगा वह दूर हो ही नहीं सकता ऐसा होगा कहा जाए कि नितान्त रोको मन को तो कैसा प्रतीत होता है <clears throat> जैसे गला घुट गया हो थोड़ा बहुत या कैसा होता है बल लगता है बहुत अधिक बल लगता बल लगता है ना नितान्त रोक दो मन को सभी विचारों से तो बड़ा बल लगता है परंतु ये बल सदा नहीं लगता आगे अभ्यास करते करते करते करते ये बल न्यून कम होता जाता है और कम कम होते होते होते होते बहुत कम हो जाएगा आगे चल इससे पता चला जब नितांत मन को रोक रोका मने जैसे तो उस यंत्र में कुछ मुड़ी हुई रेखा आने लगी नितांत और जिन एक विषय को बनाया तब सीधी आने लगी अंतर देखा वो यहां यंत्र का या नहीं यहां लगाते हैं लगा दिया तो जब नितांत रोका तो बल लगता ना उसमें तो उसमें बल लगने के कारण शरीर का तापमान बढ़ा हो गया जो भी तो उसमें रेखा कुछ मुड़ी आने लगी और मैंने कहा नहीं अब मैं दूसरे विषय में हम्म, एक विषय में लगाता हूं जैसे ओम सर्वरक्षक है एक विषय में लगाता हूं अब लगाओ अब वो पर्याप्त ऐसी सीधी सीधी सीधी सीधी चलती गई क्या समझ में आया यंत्र होता ना ये कंप्यूटर है क्या है वो वो कहते हैं चित्त की एकाग्रता को मन के विचारों है जो मन के विचारों को बताता है उसमें ये बात कुछ आई समझ में अब तक आगे तो और परीक्षण होगा जैसे जब पता विचार है या नहीं इसको न बता के शरीर के प्रभाव को बताता है क्या समझ में आया शरीर के ऊपर प्रभाव जो पड़ता है ना मन का सोचने से चंचल होने से बल उसको बताता है तो उसमें क्या था कि फिर मैंने ओम सच्चिदानंद ये बोल दिया इसमें फिर मुड़ी आने लगी इसमें बल लगा ना ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ऐसे जब पाठ किया ना तो फिर मुड़ के आने लगी पता चला कि बल लगने पर यह हुआ प्रारंभ में अधिक बल लगता है बल करते करते फिर इसमें भी बल कम होता जाता है भला अपना जो ज्ञान है अपनी इच्छा है अपना प्रयत्न है उसको रोक के खड़ा करना विचित्र सा लगता है हुँ? हम्म? और कई बार तो जैसे सांस को वहां का वहां रोक दो जैसे गोली चलाने वाला रोकता है <laughs> ऐसे रोक दो सांस को वहां का वहां सांस रोकने से वो विचार तरेंगे झट पकड़ मारते विचार तरेंगे जो है ना और और भी एक बात है कि हमने अंदर से अपनी तरंगों को विचारों को ऐसे बांध दिया पकड़ लिया हो जैसे जैसे पकड़ लिया हो कर दिया जैसे पकड़ लिया वैसे कर दिया तो वो रुक जाएगा थोड़ा सा यदि खुला छोड़ा <laughs> तो फिर विचार करेगा फिर विचार करेगा फिर गला सा घोट दिया उसका ये रोक दिया एक बात और है एक ईश्वर के विषय में जीवात्मा के विषय में प्रकृति के विषय में उसने इन सभी पदार्थों के विषय में एक एक पदार्थ का स्वरूप सुनिश्चित कर लिया हो नहीं समझा तो जिज्ञासा कम रहती है बारी बारहवीं की जैसा कम रहती है तो फिर विचार उद्वेग के रूप में नहीं आती अर्थात ईश्वर ऐसा ही है जीवात्मा ऐसा ही है प्रकृति विकृति ऐसी ही है अब जिज्ञासा उसकी तीव्र नहीं है इन विषयों में जब जिज्ञासा तीव्र नहीं होती तो उसके अंदर जो वेग उत्पन्न होता है विचारों में वो उतना ही कम होता है दूसरी बात जब इस विश्व को पूरे के पूरे विश्व को प्रलवत अवस्था में पहुंचा देता है तब उसको सुविधा हो जाती मन को इस प्रकार से जानना समझना जीवन में सावधान रहना कभी भी मन इंद्रियों को स्वतंत्र अनधिकृत रूप में न छोड़ना ये अत्यंत आवश्यक कार्य रहते हैं सदा अब आप व्यवहार में आए कुछ सेवा करते हैं आप कुछ भोजन खिलाते हैं कुछ और कुछ करते हैं ये करते हैं अब कितने लोग यहां इकट्ठे होंगे उनको बात करेंगे उनके साथ कुछ लेन देन करेंगे उस अवस्था में यदि आप सावधान नहीं है तो आपका मन शुद्ध नहीं रह सकता या रह सकेगा नहीं रह सकेगा कुछ सिद्धांत काम करते हम सिद्धांत बना लेते हैं क्या हम जैसे आता है श्लोक का वाक्य है ना मातृवत परदारेशु ऐसा वाक्य है है ना हमने सिद्धांत बना लिया ऐसा ऋषि मानते हैं ऐसा हमारा सिद्धांत है उसके मन में ये बात रहती है सदा तो उसी को लेके चलता है उसे इधर उधर जब मन होने लगता है तत्काल रोक देता नहीं हमारा ये सिद्धांत है हमारी ये मान्यता है उल्टे विचारों को रोक देता है यदि सिद्धांत न बनाया हुआ हो तो संशयात्मक हो तो भ्रांति हो सकती है और व्यक्ति का मन जो है विचलित हो सकता है सिद्धांत बनाना और विचलित होने लगने की स्थिति में वितर्क ने प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग करता है एक और बात है बाहर के लोगों से मिलना जुलना और लेन देन आदि में उनकी आकृतियों को अधिक देखेगा ध्यान से देखेगा तब मन विचलित अधिक हो जाएगा साधारण रूप से रहता है किसी के आकार प्रकार को नहीं देखता वो वह सामान्य रूप से देखता है लेन देन कर लेता है किसी की शक्ल को अच्छी तरह देखता ही नहीं तो मन स्थिति उसकी अच्छी बनी रहती है अधिक आकृति को शकल को देखेगा तो मन में विकृति आ जाएगी कहीं द्वेष आएगा तो कहीं राग आएगा ये होगा इसलिए प्रयोग करते समय ये सब बातें देखनी पड़ती अच्छा आप बात करते हैं किसी को बुलाते हैं कुछ करते हैं चिल्ला के बुलाते हैं क्रोधित होकर बुलाते हैं हाव भाव बने बदले ऐसा नहीं देखते आप हमारे हाव भाव ऐसे नहीं होने चाहिए हम ऐसे न बोले कठोर न बोले और दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कभी कभी इन बातों का प्रशिक्षण बहुत दिया जाता है ना कहीं कहीं जैसे विमान में जो सेवा करते हैं चाहे वे पुरुष हो चाहे स्त्री हो लड़की हों चाहे वैसे हों अच्छा वो जो भाषा बोलते हैं वो लेन देन जो करते कितना मीठा बोलते हैं कितना लेन देन करते हैं कितनी बार उनसे कुछ मंगवाए कोई या कोई पूछे उनके हाव भाव देखो उनकी विचारधाराएं देखो उनका आकृति देखो ऐसे होते हैं ये देवता लोग हैं कहां से उतर के आ गए इतना प्रशिक्षण <laughs> दिया जाता होगा उनको विमान में यात्रा करते ना जब वो जो सेवक के रूप में आते हैं भोजन आदि आदि जो खिलाते पिलाते जो भी कुछ आप इनका ध्यान नहीं देते होंगे कि हम बोलते समय क्या आकृति हमारी क्या होती है आवाज कैसी होगी दूसरे से कुछ पूछे तो क्या दूसरा कहता भाई ए, वो जो है ना अमुक व्यक्ति ये माताएं आई जम्बू से है उसने पूछ लिया जम्बू वाली माता जी कहा जम्बू वाली पता नहीं मुझे कहा <laughs> वो वो ऐसा बोलेगा वो उनको ये पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए हाँ माता जी ये पुरुष होता अच्छा मैं अभी ढूंढता हूं और बड़ा प्रेम से करता है वो खोज करता है कहा माता है उसको वहां पहुंचा के आता है हम अंतर कितना पड़ गया नहीं आया समझ में कुछ तो आएगा आपके प्रशिक्षण व्यवहार का या नहीं आएगा है जी अब किसी को बुलाना है पहले तो जोर से बोलेगा होता है दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है तो ये सभी व्यवहार की बातें जाननी समझनी चाहिए अब विराम योगश्चित्तवृत्ति निरोध इतने अध्ययन व अध्यापन सुनने सुनाने के पश्चात कभी योग जिसका नाम है कार्य मुझसे कोई बताएगा अर्थात क्षिप्तम एक मूढ़म दो विक्षिप्तम तीन इनमें योग नहीं माना जाता एकाग्र निरुद्धम योग माना जाता है क्या वो हाथ गया किसी को या नहीं लगा हाँ जी आप बोलेंगे आप बोलेंगे नहीं हुआ इसने एक बात पूछी हाँ एकाग्रता में कितना समय कितने समय तक एक एकाग्रता से उसके दो भाग बने हुए हैं एक एकाग्रता की स्थिति रहती है अच्छा कुछ व्यक्ति लंबे काल तक कुछ कर लेता पर बीच बीच में उसका तारतम्य टूटता रहता है वो योग की स्थिति नहीं मानी जाती एक और बात है योग की स्थिति में एक लक्षण होता है अपर वैराग्य जो यहां योग जिसकी चर्चा यहां चल रही है उस योग की उसमें अपर वैराग्य का होना तो अनिवार्य रहता है अपर वैराग्य के लक्षण जो किए गए उसकी स्थिति का जो वर्णन है उसमें व्यक्ति का स्तर क्या होता है उस कसौटी से कसा जाएगा ये जो योग है संप्रज्ञात योग और फिर आगे असंप्रज्ञात उससे उस कसौटी से जाना जाएगा तो आप बोलेंगे पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पाए तो आप हाँ जी आशुतोष जी तो प्रश्न तो समझ में आया होगा तो तीन अवस्थाओं में योग हाँ। नहीं माना जाता और चौथी अवस्था में योग माना जाता है तो वो स्थिति उपलब्ध हुई या नहीं चौथी अवस्था के पास पहुंचते हैं ऐसा हम्म। अनुभव आता है हम्म। तो ज्योतिष लगातार स्थिति बनी रहे और वो जो लक्षण अपर वगैरह के हैं वो अनुभव तो होते हैं परंतु अंतिम रूप में होते हैं हाँ जी सुमेर प्रसाद एक दो प्रतिशत अनुभव हाँ जी एक दो प्रतिशत मानते और फिर अर्थात वो ए, कुछ छूता है मतलब थोड़ा विशेष ही बोलेंगे प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं हाँ जी उस अंश में ऐसा अनुभव होता है कि नजदीक पहुंच जाता हूँ हाँ जी प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं अच्छा आप ये मानते हैं कि हम इसको इस जन्म में प्राप्त कर लेंगे कौन कौन मानते हैं प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसमें सबसे अधिक बाधक कौन है कौन बताए हम बाधक हम्म? हाँ जी स्वयं कौन अधिक बाधक है आप बोलो स्वयं हाँ जी हम स्वयं ही बाधक कौन बाधक है स्वयं बाधक जो बाधिक रूप आपके अंदर उपस्थित है अर्थात जो बाधाएं आपके अपने जीवन में हैं उनको जानना और उनको फिर रोकना उनको हटाना इसमें आप आलस्य प्रमाद क्यों करते हैं कुछ समझ में आई बात कभी कभी व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कौन बाधक है और जब किसी को पता चलता है मैं ही बाधक हूं ऐसा पता चल गया किस किस रूप में मैं बाधक हूं उसको ही जानना चाहिए जैसे कि कुछ विभाग बनाए जा सकते हैं उसमें देखा कि मैं शरीर इंद्रिया मन और बाहर की वस्तुएं भोजन वस्त्र और कोई भवन आदि आदि इन वस्तुओं का मैं स्वयं को स्वामी समझता हूं इसलिए मैं बाधक हूं एक बाधा का पता चला क्या समझ में आया बाधक किस रूप में होता है ये भी तो चाहिए मैं बाधक हूं ये सिद्धांत तो समझ में आया किस किस रूप में मैं बाधक हूं समाधि प्राप्ति में ये समझ में नहीं आ रहा उस उस बाधा को वो कैसे रोकेगा फिर तो उसके भी भाग बनाने पड़ेंगे कि मैं बाधक किस रूप में हूं तो पता चला कि भाई एक बाधा तो मैं खड़ी कर रहा हूं इन पदार्थों शरीर इंद्रिया मन विद्या धन संपत्ति आदि का मैं अपने आप को स्वामी मान रहा हूं और ये स्वामी तो का मैं परित्याग नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं बाधक समाधि में समझ में आया नहीं आया आया नहीं आया समझ अब पता चल गया बाधक इस रूप में है आप और इस रूप में जब बाधक हैं तो इसको छोड़ देना चाहिए छोड़ने में संस्कार कारण रहते हैं नहीं छोड़ने देते छोड़ने में अज्ञान कारण रहता है नहीं छोड़ने देता छोड़ने में अपनी मान्यताएं कारण रहती है इसके विपक्ष में वो शब्द प्रमाण को अंतिम निर्णय मुख्य रूपेण स्वीकार नहीं करता शब्द प्रमाण को दूसरी बात ये वस्तुएं जिनको हम अपना मान बैठे हैं ये वस्तुएं हमारी नहीं है क्यों हेतु पूर्वक सिद्ध नहीं करता कि इनका निर्माण इनका पालन हम नहीं कर सकते इसकी सिद्धि नहीं करता व्यक्ति यदि इसकी सिद्धि कर लेता है कि वस्तुतः ये जितनी भी चीजें वस्तुएं हैं प्राकृतिक वस्तुएं जिनको मैं अपनी मानता हूं उनका निर्माण मैं नहीं कर सकता उनकी रक्षा भी मैं नहीं कर सकता यदि ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस संसार का निर्माण करने वाला शरीर का निर्माण करने वाला इंद्रियों का बुद्धि का निर्माण करने वाला विद्या का स्वामी हमको विद्या देने वाला सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि पदार्थों को बनाने वाला इन कारण इनकी रक्षा करने वाला ये सिद्ध हो जावे ईश्वर है तो स्वस्वामी सम्मत तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती क्या संबंध में आया हाँ जी बोलो यदि ये समझ में आ जाए कि इन पदार्थों को स्वामी मैं नहीं ईश्वर है तो उसमें स्वामी संबंध छोड़ने में बड़ी आसानी हो जाती तो आप किस आधार पर ये अपने आप को स्वामी मान बैठे ये बताओ आधार बताओ कोई कोई न कोई आधार तो ढूंढेंगे आप कि निराधार किसी बात को मानना ये मनुष्य का धर्म नहीं है आधार कुछ प्रमाण तो है नहीं जब प्रमाण नहीं है तो उस बात को छोड़ दो इसमें प्रमाण है कि ईश्वर इनका स्वामी है हम इसके स्वामी हैं इसमें प्रमाण नहीं है इसका समन्वय हमको ये वस्तुएं उपलब्ध हैं शरीर इंद्रिया आदि इन वस्तुओं को सुरक्षित रखना इन वस्तुओं का पालन पोषण करना इन वस्तुओं को खराब न होने देना इन वस्तुओं से धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करना ये हमारा धर्म है इन सब कार्यों को हम करेंगे पर ईश्वर से उत्पादित उत्पादित है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है ईश्वर की शक्ति से सुरक्षित है परंतु हम इनमें सहयोगी इतने अंश में हैं कि हम इनका संचालन करते हैं संचालन भी ईश्वर की सहायता से करते हैं क्या समझ में आया संचालन भी ईश्वर की सहायता से ही कर पाते हैं हमारा अंश ये है कि हम कुछ ज्ञान रखते हैं थोड़ा सा ज्ञान हमारा स्वाभाविक ज्ञान है हम इसमें सहयोगी हैं कि हम कुछ बल भी रखते हैं थोड़ा सा बल है हमारे पास उस ज्ञान और बल का प्रयोग हम ईश्वर की सहायता से करते हैं क्या समझ में आया आनंद जी हम इन वस्तुओं का जो संचालन करते हैं वो ईश्वर की कृपा से ही करते हैं ईश्वर के कारण ही कर पाते हैं उसकी शक्ति से हमारे पास बहुत कम बल है बहुत कम ज्ञान है वो थोड़ा सा स्वाभाविक ज्ञान है उससे पूरा काम नहीं हो सकता जब तक ईश्वर की सहायता न तो व्यक्ति अधिक से अधिक तर्क उठाएगा तो यहीं पर आके रुक जाएगा कि हां कुछ हमारे अंदर ज्ञान है उसको हम अपना कहते हैं इसमें बाधा नहीं है इसमें कोई अपसिद्धांत नहीं है सिद्धांत है क्या हम में थोड़ा सा ज्ञान है हम में थोड़ा सा बल है इसमें भी कोई बाधा नहीं है हम में थोड़ा सा बल है उसको हम अपना माने कोई बाधा नहीं कुछ तो समझ में आ गया हम में थोड़ा सा ज्ञान है उसको हम अपना माने कोई बाधा नहीं है पर वो इतना कम है इतना थोड़ा है उससे हम एक और हटके काम करने लग जाए केवल अपने ज्ञान से केवल अपने बल से कोई कार्य करना चाहे संसार में तो कुछ नहीं कर सकते ईश्वर को हटा दो ईश्वर के बनाए हुए साधनों को भी हटा दो और फिर अकेले खड़े हो जाओ अब बताओ क्या करोगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे बस हम कुछ नहीं कर सकते हमारा स्तर यह है ऐसा मानना चाहिए अब ईश्वर प्रदत्त साधनों का हम प्रयोग करते हैं अपनी इच्छा से अपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए इसलिए हम उसके कर्म फल के भागी होते हैं उलझने नहीं रह सकती ये समन्वय करना अत्यंत परिश्रम साध्य है पर असंभव कुछ नहीं है सब संभव है व्यक्ति यदि सत्यग्रहाई होकर के सत्य प्रिय होकर के हठता दुराग्रह को छोड़ के यदि निर्णय करना चाहता है तो वो कर सकता है आप कभी बैठ करके आत्मनिरीक्षण ही नहीं कर पाते होंगे कि क्या ऐसी स्थिति क्या है कौन खोलता है इन बातों को नहीं मैं और मेरा उसका और इसको इकट्ठा करो ये हो जाएगा ये उससे ले लेंगे इसका ऐसा कर लेंगे सा और इकट्ठा करूंगा ये मैं इसका बड़ा बन जाऊंगा इतना धन मेरा हो जाएगा इतनी मेरी विद्या हो जाएगी वो दिन रात मेरे में तेरे में लगा रहता उसको इसका होश ही नहीं है कि मैं क्या हूं मेरा क्या है कोई होश नहीं आनंद जी अपने घर पहुंच जेवे ये मेरी माँ है ये मेरा भवन है ये मेरा भूमि है भाई आप दिन रात इसी में दे रहे आज तक ये मेरा है ये कभी पता तो लगाया मेरा क्या है कोई अता पता नहीं है लगा हुआ है मेरा तीन काल में सत्य क्या है जो व्यक्ति इसको ही जानना चाहता है वही इन बातों को भी जानता है तीन काल में सत्य क्या है बस उसको ये चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए इतना तीव्र जिज्ञासा कर रखने वाला तीन काल में सत्य क्या है इसको चाहने वाला व्यक्ति वो अन्य प्रयोजनों से प्रभावित नहीं होता छोड़ देता है लौकिक प्रयोजन बहुत प्रयोजन है आप जब आत्मनिरीक्षण करेंगे पूछेंगे अपने आप से कि वास्तव में बात क्या है उस समय आप संसार से अलग हो जाएंगे यदि संसार के साथ चिपटे हुए रहेंगे तो इस बात का विचार नहीं कर सकते आप वो क्या देखता है कि संसार में तो अब मैं तो पहले था ही नहीं यहां पर जब जन्म नहीं हुआ था तो और वो कहता है माता पिता भी नहीं थे पीछे चलता जाएगा चलता जाएगा कुछ भी नहीं था अपने जीवन को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए उसमें बाधक क्या है कभी कभी व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि मेरे लक्ष्य पर पहुंचने में बाधक क्या है और साधन क्या है ऋषियों ने एक बात कही कि योगाभ्यासी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कभी ऐसा न हो कि बाधकों को साधन समझ लिया जाए मानसिक विचार और बाहर की वस्तुएं और कर्म इनका निर्वाचन इनकी काट छांट अच्छे प्रकार से करनी चाहिए सांख्यकार ने एक बात कही कि असाधनों को व्यक्ति साधन मान लेता है तो वह भरत की भांति मोक्ष की अपेक्षा बंधन में पड़ जाता है ऐसी कथा हम सुनते हैं भरत एक व्यक्ति अपने कहीं आश्रम में रहता था तो उस समय उसको एक दृश्य देखने को मिला बताया जाता है ये जो मृग होते हैं जंगल में तो मृगणी का छोटा सा बच्चा बड़ा दुखी और वो छोटी अवस्था में इतना भाग भी नहीं सकता पीछे रह जाता है मृगों के पीछे जब कुत्ते अथवा और भेड़िया जैसी या शेर पीछे भागते हैं तो उनके बस की बात नहीं अपने छोटे बच्चों को साथ लेके दौड़ सकते और ये एक बड़ा रचना का महत्व है कि वो जो मृगणी का छोटा सा बच्चा है इतना शीघ्र दौड़ने लगता है जब उसका जन्म होता है तो थोड़ी ही काल में पर्याप्त दौड़ने लगता है पर वो इतना तीव्र नहीं दौड़ पाता छोटी अवस्था में जितना मृग दौड़ते हैं और अधिक कुत्ते आदि से बचने की स्थिति में पहुंच जाए तो बताया जाता है कि भरत ने उस बच्चे को देखा और देख करके अपने पास रख लिया तो पास रख लिया तो उसको दूध पिलाना जो भी कुछ उसकी सेवा वो करते रहे और उन्होंने समझा कि ये बहुत अच्छी बात है बड़ा अच्छा कार्य है ये और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरी मुक्ति में ईश्वर प्राप्ति में बाधा डालेगा ये नहीं ये मुझे मुक्ति की ओर ले जाने वाला सत उपकार है ऐसा मान लिया तो बताया जाता है उसको सेवा करते करते कुछ और बड़ा हो गया और उस बच्चे में मृग के बच्चे में बड़ा राग हो गया उसका आप देखते हैं किसी का कुत्ते में राग होता है या नहीं होता ये कुत्ते रखते हैं ना कहीं कहीं तो उनका कुत्ते में राग होता है <laughs> किसी का बिल्ली में राग होता है ये तो जानते होंगे ना आप तो जहां वो चलता फिरता वहीं वो भी साथ साथ बैठ जाता तो बैठता भी उसके साथ खाता पीता जैसे अर्थात वो इतना उसमें राग हो गया आसक्त हो गया वो जो योगाभ्यास और वैराग्य था वो छूट गया जैसे ये पशु में राग होता है ऐसे पुत्र पुत्रियों में राग होता है क्यों जी गृहस्थ लोग समझते हो तो वो राग जो है परमात्मा के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न होने नहीं देता एक होता है प्रेम और एक होता है राग प्रेम तो ईश्वर भी करता है प्रेम योगाभ्यासी भी करता है पर राग ममत्व मैं और मेरे की जो स्थिति उत्पन्न होती है वह ईश्वर से व्यक्ति को दूर कर देती कभी कभी ये सम्मान भी इस रूप में आता रहता है सम्मान की इच्छा बनी रहती है तो सम्मान की इच्छा चाहे वो अच्छी सेवा से हुई हो चाहे विद्या से हुई हो और किसी कारण से सम्मान उसको मिला तो वो सम्मान की जो इच्छा है वो ये मान लेता है कि मैंने तो अच्छे कर्म किए उपकार किया विद्या पढ़ाई सम्मान यदि ये देते हैं तो ये मुक्ति में बाधक होगा नहीं ये तो अनुकूल है मेरे योग में तो वो उसकी चपेट में आ जाता है जो ब्रह्मचारी आया समझ में क्या समझ में आया आपने विद्या पढ़ाई अथवा कोई सेवा की लोगों ने सम्मान किया और करना चाहिए वो धर्म है और उसकी इच्छा आपके मन में रहने लगी आपने ये मान लिया ये जो मैं अच्छे कर्म करता हूं और सम्मान लोग कर रहे हैं ये मुक्ति का साधन है ये कोई बाधक बाधक नहीं है ऐसा मानता है आपने पुस्तक लिखी कोई अच्छी पुस्तक लिखी और अनेक लोगों ने उसको पढ़ा और प्रशंसा की तो आप ये मन में रखेंगे ना भाई लोग कुछ मेरी प्रशंसा करें या नहीं रखेंगे कैसा होगा अच्छी पुस्तक लिखी है लोगों को बड़ा लाभ हुआ है और आप ये मानते हैं कि वास्तविकता है इस समय तो कि मैंने पुस्तक लिखी है और लोग उसको पढ़ के लाभ उठा रहे हैं और ये पता नहीं कैसा ये मैं सम्मान की जो कर रहा ये वैराग्य में बाधक समाधि में बाधक नहीं कहता साधनानुचिंतनम बंधाए भरत भरत क्या ना की और भरत का साधना करने ये माता पिता कभी कभी अपने पुत्र की उन्नति चाहते हैं जानी नहीं चाहिए और प्राय होता क्या है उसकी उन्नति चाहते हैं जानी चाहिए अच्छा बनाना चाहिए फिर वो सोचते हैं उसको धनवान बनाओ आज के प्रश्न के लिए होने चाहिए कार आदि साधन उसके पास होने चाहिए अच्छे घर में विवाह का इसका एक व्यवसाय लगा हो कोई लगता लगा रहता है चल विवाह हो गया फिर पुत्र उत्पन्न गया कर कहता है इन छोटे छोटे बच्चों को ऐसे निकाले में भेजा उन्नत हो जाए और शीघ्र ही अच्छे बन जाए अब यह जानता होगा और कभी सात अनुभव नहीं कहता होगा मैं साधन और साधन की धारणा कर रहा हूं क्यों कल्याण भेज जा रही देख लो आपके साथ ये बात लागू हो रही है और काम इतने नहीं नाराज अभियान के साथ हो जाओगे ना नाराज नहीं तो बुरा नहीं लगता हूं और ऐसा सोचना नौकरी की दृष्टि से बुरा नहीं है इसमें दोष ये है कि उस व्यक्ति ने गृहस्थ में रहा उसने अपने पुत्र को पढ़ा दिया लिखा दिया अच्छा बना दिया अब आगे बढ़ो थोड़ी देर के लिए विवाह कर दिया हो गया अब उसको चाहिए कि भाई अब जो है मेरा कार्य पूरा हो गया अब पुत्र के प्रति आकर्षण राग और इसे पुत्र पोत्रे होंगे पोते होंगे ये होगा ये नहीं मत बस ईश्वर की ओर चलूंगा तब तो ठीक है और नहीं तो वो बंधन में पड़ेगा अब ये ब्रह्मचारी है ये अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेंगे अब कर रहे हैं कुछ कर चुके हैं अब ये पढ़ाने लग जाएंगे पढ़ाना चाहिए अच्छी बात है और कोई इनमें से विद्यालय खोल लेगा वो भी अच्छी बात है कोई ग्रंथ लिखने लग जाएगा वो भी अच्छी बात है पर वो ग्रंथ लिखना वो संस्था चलाना वो पाठ पढ़ाना ये अच्छे कार्य पर उनमें व्यक्ति का इतना आकर्षण होता जाता है और उसके पीछे दूसरी चीज जुड़ती जाती है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए रुचि आकर्षण नहीं रख पाता आप देखिए लेखक का प्रेम आकर्षण जितना पुस्तक लिखने में है वो प्राय ईश्वर उपासना में नहीं देखा जाता या क्या समझ में आता पर्याप्त व्यापक रूप में चीजें रहती स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी बताया करते हैं कि पढ़ना और लिखना मैंने बहुत किया लगे ही रहे कितने ग्रंथ लिखे उन्हें इंग्लिश से और पर्याप्त ग्रंथ पर योग में मेरी रुचि नहीं योग में मेरा कोई झुकाव नहीं है ये जीवन इसी रूप में चला है मेरा तो अब यदि देखा जाए वो कार्य तो अच्छे हैं और दूसरों को लाभ होगा उनसे ग्रंथों से पर उसने अपना मुख्य कार्य नहीं किया जो कोई भी व्यक्ति हो वो मुख्य कार्य नहीं उसका ईश्वर की दृष्टि से दोष है ईश्वर की दृष्टि से जहां दोष है वो अच्छा काम नहीं है बुरा है अच्छा काम अपने स्तर पर कुछ है पर ईश्वर की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है ईश्वर की दृष्टि में वो कार्य अच्छा है जिस कार्य का लक्ष्य केवल ईश्वर प्राप्ति बना रहे लेखक का उद्देश्य मुख्य वही बना रहे वो लिखे अध्यापन करने वाले का लक्ष्य वही मुख्य बना रहे वो अध्यापन करे संस्था चलाने वाला संस्था चलाए पर मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति बना रहे ये संतुलन सबको रखना पड़ता है इसको समझना और दैनिक जीवन में देखते रहना लगातार सतत देखते रहना कि मेरा आकर्षण मेरी प्रीति किन किन बातों में कैसे है बिना आत्मनिरीक्षण के दैनिक जीवन में विचारधाराओं को उस ओर से हटाना और इस ओर लगाना ये अत्यंत आवश्यक है पूरे दिन भर करना होता है कोई कोई प्रवृत्ति आकर्षण व्यक्ति में उत्पन्न होते रहते हैं सुख सुख साधन इत्यादि दूसरी बातें उनको सबको जान करके ईश्वर प्राप्ति के लिए मोड़ देते रहना और लोक की ओर जो रुचि है आकर्षण उसको रोकते रहना ये अभ्यास है समय समय पर हम कई बार अपना आत्मनिरीक्षण करते किसी बच्चे को किसी युवा को उपदेश देने लग गए सिखाते हैं उसको वो अच्छा सीखता है और कभी कभी हम उसे दूर चले गए तो याद आएगा वो उस बालक को तो उपदेश देना चाहिए और वो बड़ा अच्छा बन रहा था वो फिर बीच में आ जाएगा <laughs> तो फिर आएगा बहुत अच्छा था वो तो यद्यपि भावना अच्छी है कि बालक को उपदेश दो युवक को उपदेश दो पर वो उसके अंदर आकर्षण इतना हो जाएगा वो वैराग्य से हमको हटाएगा ईश्वर प्राप्ति में इच्छा वो नहीं रहेगी जितनी उसको बताने हो जाएगी एक बार की घटना है अच्छी वर्षा हो गई पानी भर गया तो ये जो मोर होते हैं ये यहां जैसे गुरुकुल में हो और ये इस इधर उधर जैसे घूमते हैं तो मैंने क्या किया एक मोर को कुछ रोटी खिलाता मैं <laughs> समझे और पहले पहले उसको इतनी दूर रोटी डालता जैसे टुकड़ा तोड़ के डाल दिया और वैसे खाता फिर और पास में आने लग गया वो अच्छा फिर और पास में आने लग गया वो और जहां तक कुछ याद है साथ ऐसे जहां तक कुछ कुछ याद है हाथ में भी साथ जैसे लेने लग जाता है ऐसी स्थिति में लगभग आ गया वो भाई अच्छी बात है वो उसको कुछ सुख होता है तो अधिक वर्षा होने से आना जाना कुछ इतना अच्छा नहीं रहने से वो वो मोर आया ही नहीं एक दिन की घटना या दो की मुझे याद नहीं मुझे याद आया कि वो मोर नहीं आता क्या बात मैंने कहा ये तो ऐसा धन अनुचन तन बंदाय भरतवत है मोर का राग हो गया तो ये योगाभ्यास ही इधर उधर उखाड़ के फेंकेगा मुझे मैं कोई चिंता नहीं करूंगा मोर मोर की <laughs> आए या नहीं आए मैं तो ऐसे करता हूं जहां भी ऐसी स्थिति आए उनको उखाड़ के फेंक देता हूं ये नहीं चाहिए मुझे नहीं करना इसमें इतना सावधान जो नहीं रहता वो मुक्ति के मारे पर नहीं चल सकता नहीं चल पाएगा परोपकार करना निष्काम भाव से करना और उसमें राग उत्पन्न नहीं होने देना तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए अपने संबंधियों के लिए मित्रों के लिए समाज के लिए जो भी परोपकार के कार्य जो किए जाते हो करने चाहिए पर उसमें ये संतुलन बना रखना पड़ता है कि क्या इन कार्यों को करता हुआ मैं ईश्वर की ओर जो जाने की मेरी रुचि वो कम तो नहीं हो गई ईश्वर आकर्षण अधिक तो नहीं हो गया वो देखता रहता यदि ऐसा हो गया तो हटाता है उसको सेवा मैं करूंगा निष्काम भावना से पर आकर्षण उस ओर अधिक हो जाए और ईश्वर की ओर कम हो जाए ये नहीं ये नहीं होना चाहिए ईश्वर का और हमारा संबंध ईश्वर हमारे प्रति क्या जानता क्या मानता क्या सोचता ये हमको जानना चाहिए जीवात्मा के प्रति परमात्मा का जो स्वभाव है वो सतत तीनों कालों में जैसे उसके हित जाने सतत जीवात्मा का हित जाना उसका स्वभाव है सतत और ईश्वर क्या चाहता होगा ऐसी स्थिति में वो ये चाहता होगा या चाहता है कह दो कि ये जीवात्मा संसार की ओर न झुक जाए कभी मुझे छोड़ के क्या समझे आप क्या चाहता होगा ये जीवात्मा मुझे छोड़ करके या मुझे गौण मान करके कभी ये सांसारिक सुख और सुख साधनों में न लग जाए यही तो सोचता होगा या क्या और वो जैसे ईश्वर चाहता है हम उसके स्वभाव को जान करके हम ईश्वर के स्वभाव अनुरूप अपने जीवन को बनाए हमारा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान अनुसार हो हमारे कर्म ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हों हमारी उपासना ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप ये मापदंड कसौटी चलती रहती हम देखते हैं क्या मेरा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के अनुसार है या ईश्वर के ज्ञान से विपरीत है कौन बताएगा ब्रह्मचारी वंशी इसका उदाहरण कैसे बनेगा तो कहने से तो कह दिया बात समझ में आ, आएगी नहीं उदाहरण के रूप में नहीं आई तो क्या समझ में आएगा हम्म। हमारा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के अनुसार रहना चाहिए उसके विपरीत ना हो हाँ, एक है अनित्य को अनित्य नित्य को नित्य अच्छा ईश्वर जो जीवों के लिए जो चाहता है जैसा चाहता है हमारा ज्ञान वैसा ही होना चाहिए जैसे ईश्वर जीवों के लिए चाहता है वैसे हम भी चाहें ये ईश्वर के ज्ञान के अनुसार हमारा ज्ञान है आया समझ में फिर कर्म जो हमारे लिए है हितकारी और दूसरों के लिए वैसे कर्म हम करते हैं तो वो ईश्वर के ज्ञान के अनुसार कर्म हुए अर्थात जिन कर्मों से हमारा भला होता है और दूसरों का भला होता है हम वो कर्म करें और वो देखें कि ये ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप है ये जो कर्म है तो वो ठीक है फिर उपासना ईश्वर ये चाहता है ये जीवात्मा दिन भर मेरे साथ आबद्ध रहे परिधान की स्थिति में ये चाहता है तो हमको देखना है कि हमारी उपासना ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप हो तो ठीक है यदि हम दिन में ईश्वर को छोड़ के लौकिक चीजों में आकृष्ट रहते हैं ईश्वर को याद प्राय नहीं करते क्या हुआ कभी बीच में कर लिया संबंध टूट जाता है तो हमको समझना चाहिए कि ये मेरी उपासना ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप ज्ञान के अनुरूप नहीं है प्रत्येक समय में व्यक्ति जानता रहे कि मेरा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप है या विपरीत है तो विपरीत है उसको हटाते रहना पड़ता है विपरीत को उत्पन्न मत होने दो उसके अनुरूप ज्ञान की स्थापना करते रहो बाधकों के विषय में भी ऐसा जानना चाहिए साधने रूप में जो हम प्रयोग करते हैं उनको प्रयोग में लाते हुए हम उनमें राग उत्पन्न न होने दें और स्वस्वामी संबंध जैसे है पदार्थों के साथ हमारा वो एक बड़ा बाधक है प्रयोग तो करना ही पड़ेगा और ये ईश्वर ने हमें चीजें दी हैं इनकी हम रक्षा करेंगे इनका प्रयोग भी करेंगे ये सब कुछ करते हुए हम अपने को इनका मुख्य स्वामी नहीं माने यदि मानते हैं तो हम ईश्वर के ओर जाने से विमुख हो जाएंगे ऐसी कसौटी इतनी सावधानी व्यक्ति को करनी पड़ती यद्यपि हम ये नहीं समझते कि ये वस्तुएं ईश्वर ने दी हैं और हम इनके रक्षक नहीं हैं हम इनको अपनी मान के नहीं बरते परंतु इनका संतुलन क्या होगा ईश्वर इनका बनाने वाला ईश्वर इनका देने वाला ईश्वर ने मुनि शरीर दे दिया तो ये ठीक है हमारे कर्मानुसार दे दिया ये तो ठीक है और हम इसको अपना मानते हैं पर इसके साथ में हमें ईश्वर का बनाया हुआ है और इसकी जो रक्षा हो रही जी रहे हैं हमारा तो बहुत थोड़ा भाग है इसके जीवित रखने में ईश्वर का भाग बहुत अधिक इसके जीवित रखने में ये भी जानना चाहिए और जो हम इसको जीवित रखते हैं उसमें भी ईश्वर के दिए उपकरणों से ही हम इसको जीवित रखते हैं कुछ समझ में आया आनंद जी सुनाइए अपना मान रहे हैं हम उसको अपना ऐसा मानते हैं कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं मैं इसको ठीक रख रहा हूं जबकि वस्तुतः स्थिति यह है कि परमात्मा के कारण ही ऐसा हो पा रहा है वो ही उसकी वास्तव में रक्षा कर रहा है जिन साधनों से हम रक्षा कर रहे हैं वो दिए हुए भी परमात्मा के तो उसमें अपनी प्रधानता प्राय हो जाती है रक्षा करने में यद्यपि जीवात्मा में भी थोड़ा सा बल है अभाव नहीं है जीवात्मा में भी थोड़ा सा स्वाभाविक ज्ञान है अभाव नहीं है वो इतना कम है ज्ञान और बल वो उस अकेले ज्ञान बल से जीवात्मा अपनी कोई रक्षा नहीं कर सकता ये देखना चाहिए अपने बल मात्र से केवल और अपने ज्ञान से जीवात्मा अपनी रक्षा स्वतंत्र रूप से कभी नहीं कर पाता हां वो ज्ञान और बल जब ईश्वर के ज्ञान और बल के साथ जुड़ता है ईश्वर की दी हुई चीजों के साथ जुड़ता है तो उसका उपयोग यहां होता है और इसलिए हमको कर्ता माना जाता है कर्मों का इनका और इसी हेतु से हमको फल मिलता है हम उसमें भाग ले रहे हैं हम उसमें सहयोगी हैं पर हम बहुत थोड़े सहयोगी हैं ये जानना चाहिए हम स्वतंत्र हैं ईश्वर के दिए साधनों के प्रयोग में स्वतंत्रता से उनका प्रयोग कर लेते हैं पर जानना तो ये चाहिए कि साधनों को देने वाला बनाने वाला ईश्वर है जानना यही चाहिए हमको ईश्वर ने शरीर इंद्रिया और बाहर की चीजें दी उनका प्रयोग करने में हम स्वतंत्र हैं परंतु उनका प्रयोग करते हुए हम उनका बनाने वाला उनका देने वाला ईश्वर है उनकी रक्षा ईश्वर के नियमों से हो रही है हमारा जो सहयोग है उनमें वो हम ईश्वर के उपकरणों को लेकर सहयोगी हैं इन इनके रक्षा में ईश्वर के साधनों को लेके ज्ञान को लेके सृष्टि की वस्तुओं को लेके हम इसमें सहयोगी हैं शरीर को स्वस्थ रखते हैं हम बलवान बनाते हैं हम ये संतुलन व्यक्ति को रखना पड़ता है बड़ा गंभीर है सूक्ष्म है यदि इसको नहीं रख सकता तो फिर ईश्वर के साथ हमारा संबंध और ईश्वर की प्राप्ति होना यह संभव नहीं हो पाएगा कभी कभी व्यक्ति सोचता होगा यदि दिन रात इसी में लगे रहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम <laughs> क्यों जी ऐसा नहीं होगा क्या ये तो ईश्वर की आज्ञा ईश्वर का स्वभाव ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा ये भाग हो गया परंतु जैसे ईश्वर के साथ हम अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं <clears throat> उसके लिए प्रयास करना चाहिए ये व्यक्ति संसार की वस्तुओं से संबंध जोड़ना चाहता है और दिन रात उनमें लगा रहता है और उन्होंने कहता कोई बाधा नहीं है मुझे कुछ <laughs> कम समझ में आया क्या संसार के साथ संबंध जोड़ रहा है धन के साथ पुत्र पोत्रों के साथ मित्रों के साथ और संपत्ति के साथ लगातार संबंध जोड़ रहा है और वो इसमें कोई बाधा नहीं देखता कहते ठीक है तो स्वाभाविक है ये व्यक्ति ईश्वर को समझने वाला ईश्वर से संबंध जोड़ने में लगा रहता है ईश्वर की आज्ञा को देखता रहता है ईश्वर की उपासना को नहीं छोड़ता और संसार के काम करता है वो व्यक्ति संसार से ऐसे आबद्ध रहता है ईश्वर से विमुख होता है ऐसे रहता है दोनों व्यक्तियों का जीवन है आप वैदिक विशुद्ध जीवन को देखना चाहें तो योग की स्थिति को प्राप्त करें उस योग की स्थिति को प्राप्त करके पूरे दिन भर ईश्वर की उपासना में रहते हुए संसार के अच्छे अच्छे काम करते जाइए और फिर पता चलेगा वास्तव में वैदिक जीवन यही है विशुद्ध वैदिक जीवन सुखमय जीवन यह है यह पता चलेगा नहीं तो पता नहीं चलता सुखमय जीवन क्या है संसार के लोग तो खाना पीना मिल गया ये हो गया वो हो गया कपड़े मकान मिल गए चिकित्सा मिल गई बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और कहते सुखमय जीवन है हमारा <laughs> क्यों जी कल्याण नहीं जी आई कैसा मान रहे हो आप <laughs> सुखमय जीवन मान रहे हो क्या अपेक्षा से और लोग जितने दुखी हैं झंझट में इतने कल्याण जीवन नहीं है उनसे तो सुखी है कम से कम <laughs> मनुष्य सुखी है घबराना नहीं कितना संसार बड़ा दुखी है बहुत दुखी है करोड़पति होते हुए सब कुछ होते दुखी दुखी दिन रात दुखी करोड़पतियों का घर में जाके देखो भोजन खाते समय बात करते समय कुछ भी हो रहा है और उनकी बेचैनी जो है वो कभी कभी दूर नहीं हो पाती इतनी झलक क्या होता दौड़ धूप में रहते हैं और योगा वैसे सोचता परमात्मा ऐसा झंझट मेरे साथ मत जोड़ देना इतना धन ये संपत्ति मेरे साथ मत जोड़ देना कभी हम इस वैदिक परंपरा को जान के इसको समझ के इसके पठन पाठन करके और योगाभ्यास में समय लगाते हैं तो ये मानते हैं कि जैसा हम जीना जानते हैं जैसे हम सुखी हैं संसार में कोई ऐसा जीना नहीं जानता और इतना सुखी कोई नहीं है हमारा मापदंड तो ये है ये ठीक है या नहीं है, है जी क्यों जी कैसा है आप क्या मानते हो ये ब्रह्मचारी जी सोचते होंगे कभी मुझे पता नहीं कितना सोचते हैं या कहूं और जब कारों को देखते हैं कहीं जाते हैं नगर में लोगों को बड़े घूमते घामते देखते हैं और हो सकता है होता है ना ऐसा कई बार आप हो भी सकता है ना भी हो और होगा तो कैसे होगा होगा देखो कितनी सुखी है कार में बैठे हैं कहीं यहां बैठ गए बालक छोटे छोटे खेल रहे हैं सुंदर सुंदर और वो पति पत्नी भी हंसते हैं बोलते हैं बच्चों को गोद में ले लेते हैं और ब्रह्मचारी सोचते हैं बड़े सुखी हैं ये तो कितना आनंद का है ये और फिर आगे में ध्यान दें तो कहें कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा उसको ये पता नहीं पिंजरे वाले से पता चलेगा तू ऐसा बन के क्या चाहता था <laughs> जी दीखता अच्छा है मैं एक दृष्टांत देता हूं ना कई बार वो घटना पहले भी आई होगी एक बार बड़ौदा का जो स्टेशन है यहां पर एक बकरी थी और नीचे के भाग में जो लाइन होती है ना जहां वो बाय दाय जो है तार होते हैं ऐसे चले हुए देखे हों कभी आप तार होते हैं ना होते हैं और वो ऐसे खुजली करती करती खुजली करता ना उसको आनंद से आता है वो खुजली करती करती करती करती वो तार में फिस गई अब उन दिखी तो फिर खुजली तो भूल गई निकलना निकलना मुश्किल हो गया ये तो सारे ऐसे फंसे पड़े ये ये तो बकरी की तरह इनकी गर्दन उलझ जाएगी हाँ जी क्या माना है जी हाँ किसी न किसी समय संपर्क में सदा ही संपर्क में रहता जी कभी क्यों आया होगा अनादिकाल से संपर्क में है आज संपर्क में है और संपर्क टूटेगा ही नहीं तीन काल में संपर्क कभी संपर्क आया होगा क्या अनादिकाल से है अनंत काल में संपर्क में ही रहेगा परे हैं का अर्थ ये है उनका प्रभाव उसके ऊपर कोई नहीं पड़ सकता उनको दबोच के रखता है परे इसलिए है कोई प्रभाव जैसे हमारे ऊपर पड़ता है कभी तमोगुण आ गया काम करो दू भर गए कभी कुछ आ गया कभी दुखी ऐसा प्रभाव इस पर इन तीनों का कुछ नहीं पड़ेगा उनका प्रयोग करता रहेगा परे इसलिए उनको दबोच के रख रखे आते कोई प्रभाव नहीं डाल सकते उसके ऊपर हाँ सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है काम लेता है फायदा क्या उठा रहा अपना घर का उनका फायदा उठा रहा क्या उनकी कोई उनकी कोई धनराशि में रही है फायदा उठा रहा और फायदा अपना क्या उठा रहा हमारे लिए फायदा कर रहा है क्या तीनों कालों में ये असत्व रजतम से संपर्क है हाँ हाँ व्याप्य व्यापक तीनों काल में रहेंगे संपर्क का मतलब संबंध दूरी दूरी कभी नहीं होगी उसकी ईश्वर की सत्व रजतम की ये संपर्क रचना करनी छोड़ दी इतना अंतर आया और वो ईश्वर गुण व्यापक प्रत्येक रजतम में ये संपर्क कभी नहीं टूटता व्याप्य व्यापक संबंध तीनों काल में रहेगा रचना करना नहीं करना ये अलग स्थिति है जब मुक्त तो अवस्था में है तब भी उसका राजतम से संबंध रहेगा नहीं रहता संबंध का मतलब उसका प्रभाव और जहां सत्व रजतम है जाना आना वहां बना रहेगा कोई आपत्ति नहीं है पर प्रभाव नहीं रहेगा उसका अच्छा जी अब विराम